और हमने उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नज़र आने वाली बस्तियां बना दी थीं और हमने उनमें चलने का अंदाज़ा मुकर कर दिया था उनमें रात दिन अमन के साथ चलते फिरते रहो